इधर हुए इस खबर से सारे लोग अधीर दुर्वासा के साप से तजते लखन शरीर कौशल का बच्चा बच्चा तक सरयो पर उसे अवसर पहुँचा शेषावतार जब लय करने छायाम जल के भीतर पहुँचा श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया ब्रह्मांड फोड़ तेजस्वी ने इस दुनिया से प्रस्थान किया महापर्व अगले दिवस था सरयू के तीर नव पर देव समाज था जल में श्री रघुवीर लखनलाल की भात हे कर सियापति का ध्यान भरत शत्रुघ्न ने पहले किया प्रयाण फिर जगत के जो जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर संपूर्ण प्रकृति से द्वापर में आने का विमल वचन देकर इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया अमृत दान हनुमत को दे अपने को अंतर ध्यान किया ठहर गए कौशलपति कह इतना इतिहास बोले अब तो कुछ नहीं रखा मैंने पास गिरतन अब इति हुई बहुधा किया विस्तार राम अकथ है राम की गाता यकति अपार फिर भी क्रम से कह गया मैं संपूर्ण चरित्र जिसको सुनकर हो गई तुम भी आज पवित्र अब केवल संकेत का शेष रहा है ध्यान सुनो उसी का ध्यान दे यह संवाद प्रधान साकेत धाम में जाते ही फिर सभा राम की साज गए प्रभु सिंहासन पर दाए थे सीता मांग विराज गई सौमित्र राम के चरणों को शत्रुहन समेत दबाते थे श्री भरत लाल निज हाथों से प्रभुवर को चवर डुलाते थे देव बृंद आए तभी की आरती प्रतीत मोहन मीठे स्वरों में गूंज उठा यह गीत जय सीता राम राम जय जय सीतापति राम जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम अखिल विश्व के स्वामी अखिल विश्व के स्वामी बल बुद्धि छवि गुण धाम जय जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम छाता जभी अधर्म धरा पर करने की संग्राम छाता जभी अधर्म धरा पर करने को संग्राम ले अवतार दयानिधि ले अवतार दयानिधि हरते दुख तमाम जय जय सीतापति राम जय सीतापति राम आर्तनाद सुनकर तज देते निजवाहन विश्राम आर्तनाद सुनकर तज देते निजवाहन विश्राम नंगे पाँव धाते नंगे पाँव धाते करने जग का काम जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम जय सीतापति राम विषय वासना की वैतरणी बढ़ते जब अभिराम तब तरणी बन जाता तब तरणी बन जाता एक आप का नाम जय जय सीतापति राम जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम जय जलधर सम श्याम राम हे लोचन ललित ललाम मोहन के नयनो में मोहन के नयनो में बसो नयन अभिराम जय जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम अखिल विश्व के स्वामी अखिल विश्व के स्वामी बल बुद्धि छवि गुण धाम जय जय सीतापति राम जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम जय सीतापति राम जय सीतापति राम जय सीतापति राम